आपने कौन सी ताल सुनाई अभी ढोल में जो ढिंग टॉक है एक ताली एक ताली और भी आती है हम्म। और भी तरह की ताले आती है बस एक यही ताल आती है अच्छा आप ऐसे ही शौकिया बजाते हैं या प्रोग्राम में जाते भी ऐसे ऐसे बजाते हैं डांस वांस में नहीं बजाते कहीं जाती हूँ बजाती वहाँ बजाती हैं कहाँ पर जाके बजाया कहीं ब्याह शादी होती है ना अच्छा वहाँ जाती हूँ वहाँ बजाती हूँ अच्छा तो ढोलक वगैरह भी बजा लेती है ढोलक वगैरह नहीं अच्छा, अच्छा। बस खाली ढोल बजा और आपके साथ थाली किसने बजाया मेरे साथ संगीता ने ये आपकी छोटी बहन है हम्म। अच्छा ये कितने साल की है ये सात साल की सात साल की होगी अच्छा ये भी बचपन से थाली बजाती हाँ। है हाँ। ये भी ढोल बजा लेती हाँ, ये भी थोड़ा थोड़ा आता है <laughs> ढोल तो इसके आएगा ही नहीं इतनी छोटी हाँ, आएगा नहीं बैठ बैठी बजा ले अच्छा अच्छा चलिए वाह तो आगे क्या करना चाहते हैं आप आगे क्या करना चाहते हैं मतलब ढोल बजाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं मेरी मर्जी हो तो बजा रहा सकूँ नहीं यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपकी मर्जी है क्या बजाने की हाँ।, <laughs> हाँ अच्छा हाँ मर्जी है बजाने की ढोल बजाने की मर्जी अच्छा चलो थैंक यू पद्मनाभ जी आपका नाम क्या है हमारा <laughs> <laughs> <laughs> आपने कह दी नाम क्या है हमारा नाम राम जी जी आप ये कब से बजा रहे हैं तंदूरा ये मैं बजा रहे यहाँ पचास साल हुआ पचास साल हो गए आपको हाँ, बजाते पचास साल में बजाता रहे अच्छा और इसके साथ आप गाते हैं हाँ जी, जी। क्या गाते हैं आप इसके साथ मीरा का भजन बोलते हैं जी और कबीर का बोला हाँ, हाँ। और रेविदास जी का है अच्छा इसको आप क्या बोलते हैं मीरा के भजन को हरजस बोलते हैं मैं हरजस बोला भी भजन बोला अच्छा वाणी भी बोलते वाणी भी बोला अच्छी बात है हम्म। और कबीर दास जी के भजन को क्या बोलते हैं कबीर दास का भजन तो जो गुरु महिमा तो उसको गुरु महिमा कहते हैं अच्छा और जो निर्गुण है भजन है निर्गुण है वो निर्गुण कहते हैं अच्छा निर्गुण कहते हैं चार प्रकार की भजन है अच्छा जो चार प्रकार कौन कौन है हम्म। के परा और पचमती मधुआ और बेकरी अच्छा ये चार भजन है कबीर कबीर कह कि ये चार वाणी है हम्म, हम्म। ये चार वाणी में एक तो निर्गण है एक साकार है एक निराकार है अच्छा साकार के न कही जावे साकार तो देखते है निराकार वो न्यारा है सबसे हम्म, भजन है अच्छा, अच्छा तो आप आपके घर में पहले से गाते थे भजन पहले हमारे दादा परदादे गाते थे जी और जो हमारी उस्ताद गर्ग ब्राह्मणी दिलू भाई अच्छा। सहजा भाई जो हमारे कृष्णा में ना कलकत्ता मैंने अवार्ड मिला है उची उर किताबा बने हमारे अच्छा मैंने पूछो वहाँ बिमला जी माता के भाई आप भजन कह गुड़ सीखा तो गर्ग ब्राह्मणी सहजा भाई वो पाकिस्तान में कौन भगत बेड़ी गाती थी अच्छा। वो बेड़ो मैं दस वर्ष में बिना बीणे और ताली ताली के माथे गाए थे अच्छा हाँ वो बहुत ही रागिंदर थी वो मेरी उस्ताद है तो आपने कब कौन सी उम्र में सीखा उनसे वो मैं सीखी वहाँ पंद्रह वर्ष की बारह तेरह वर्ष की अवस्था में सीखो जब तक अब गाँव अजी तक अच्छा अच्छा हम्म। तो पाकिस्तान में आपने सीखा पाकिस्तान तो मैं गया नहीं वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी आपको सिखाने के लिए हाँ आपने मारे ये गांव की थी अच्छा मेरे ससुराल की थी बस वहाँ भजन वो गाते जब तो वो ला रही हूँ गाते तो मेरा कंठ बहुत था अच्छा, अच्छा, तो लुगाई का कंठ था बहुत ही ऊंचा था अच्छा, जैसे लता का और तरीका था अच्छा और उर वो गाती जब जब उर भेड़ो छोटो बच्चो तो गा तो अच्छा अच्छा एक प्रोग्राम में जावा जदी बिना बीजा सीखा आना सीखा है हम्म, हम्म, हम्म। एक कमल कोठा के हमने प्रोग्राम में ले गया है आधी साल हुआ अच्छा तो आपने ये बजाना शुरू किया पहले आप ताली पहले ताली के ऊपर गाते थे अच्छा अच्छा, अच्छा। तो आपके घर में और कौन गाते बजाते हैं तो बीजा तो हमारा पिता और दादे गाते थे और आप और छोकरा एक एक लड़का गावे है चार लड़का है अच्छा जिसका एक लड़को छोटो वो गाते है ये है अच्छा अच्छा हाँ। और महेशाराम कौन है महेशाराम मेघवाल है आप... वो भी हमारे गांव का नहीं है दूसरे गांव का हमारा गनाइत थे अच्छा, अच्छा। हाँ। ठीक है तो जब आप ये गाते हो भजन गाते हो तो आपके साथ साथ कौन कौन गाते हैं क्या क्या संगत होती है महाराज संगत तो वहाँ जो गामा में संगत होती है हम्म, हम्म। कोई गंगा जी जाते है हाँ, हाँ। कोई जागरण करते है हम्म। तो हमको बुलाते है ठीक है और वहाँ भजन करते हैं और फिर भी हम प्रोग्राम और प्रोग्राम करने लगे हैं कमल दादा के प्रोग्राम आज पंद्रह बीस वर्षों में करते ना ठीक है जो अनवर मेरा सी ये हमारे गांव का भैया कहाँ है अच्छा वो वो ना दादा पूछू के कोई भजनिंग ऐसा है तो दादा कहे के कोई लाओ अच्छा, अच्छा। मारो नाम बतायो कि पदमा अच्छा। भजन करे तो लाओ नहीं आपके साथ क्या क्या और वाद्य बजते हैं हमारा ये हम्म, ढोलक है अरबीणो हाँ। है मंजीरा है ये अच्छा, बात है कमाचो है सारंगी है आपके साथ बजता है हाँ कमाचो बजाते लाखे कहाँ है रानी दी गाम पड़ोदी के कने नुकसान की वो हमारे केस में बजे भी अच्छा, अच्छा। हम्म। कैसेट भी है आपका कैसेट के भी हमारे कहाँ कहाँ विदेश होके आए हैं आप मैं ये पूरे भारत भर में तो हम्म, प्रोग्राम दिया है अच्छा कलकत्ता पुणे हाँ बेंगलोर मैंगलोर अच्छा। मैसूर गोवा अच्छा और विदेश में कहा जाके आए देश में अभी जा अभी जा रहे हैं पहले नहीं गया पहले कभी नहीं गया अब कभी कहाँ जा रहे हैं हम जा नंदन जा रहे हैं कहाँ नंदन लंदन लंदन जा रहे हैं हाँ। अच्छा अच्छा हम्म। चलिए अभी आप हमें क्या सुनाएंगे आपको भजन सुनाओ मीरा भाई की हाँ हाँ जाते हैं तो ये कैसे बजता है अंगली हम्म, बजाता नहीं है हाँ, ये ताल में बजाता ये बहता खाली बहता ये <clears throat> ये खाली बहता खाली बहता है हाँ, बजाते रंगली बजाते ताल बजाते हैं हाँ। जड़ी भी नहीं जाने दीजिता तीन तारीख है साधन है यही ये सोठ राग हमारे देश की सोठ राग अच्छा अच्छा अब आप एक निर्गुणी भजन सुनाओगे हमको हम्म। ये आपका जो तंदूरा है कितना पुराना है ये तंदूरा तो पुराना ये पेल का बाजा ये जो मीराबाई का भजन मीराबाई भजन तंदूर पर करती थी नहीं नहीं ये जो बात है ये, हाँ। ये तो दस पंद्रह बीस वर्ष का पहले अच्छा बहुत इसको तो आपने अच्छी तरह रख रखा है क्योंकि ये तो बहुत नया लग रहा है बिल्कुल तो ये किसने बनाया है ये खाती बनाया है खाती ने हम्म। आपने नहीं बनाया नहीं बना नहीं सकता अच्छा हम्म। अच्छा ये खाती बनाता है खेत का राम ले रहा हूँ उन्होंने चाहनी हाँ। रामदेव जी का मंदिर हाँ हाँ। आप देखिया जी जी ओ राम ले रहे मैंने अभी हमें राम ले रहे की मैंने हमें हम्म, कड़ी बाबे रामदेव जी का मिला है हाँ, हाँ। हम चल रहा है हाँ हाँ चल रहा है हाँ, चल रहा है हाँ। तो उबेर में नबीना बहुत है अच्छा। उबर, उबर बेकू आवे है बेचने के लिए बेचने के लिए हाँ। दुनिया ले जा डग लगा बढ़िया बहुत ही ये ढेर लगा बढ़िया अच्छा, अच्छा। हाँ। तो आप इसको एक बार जरा मिला के बताओ कि मिलाते कैसे हो तार बजा के एक एक तार बजा के सुना दीजिए ए तार हाँ एतार एतार एतार एक है नी एक एक तो मिलाऊं पेल तारे एक मिलाऊंगे अच्छा ए, ये के पेटी माथे मिलाइए अच्छा ठीक है चौथो पको सुर में अच्छा हाँ। और बीजा तीजे सुर ग्राम में गावा हूँ चौथा जब पके गाऊँ हूँ सातों सुर गात पहले अच्छा जब जवानी थी हम्म, हम्म, हम्म। जब सात सातों सुर में गा गाए मैं भजन अच्छा हाँ तो ए, अभी मैं चौथे पके में गाते हूँ ठीक है तो ए चौथे माथे मिले ये तार ठीक है पचे ईयर बिना तीन तार तो एक साथ मिलाए हुए और एक उसका रागनी कहती है झारो कहता है अच्छा नीचे नीचे मिलानी चाहिए हाँ। झारा कहते हैं ये रागनी ये तार है ये राग राग उठाने के लिए अच्छी बात और ये गोस्वामी ये रागनी है ये झारा है झारा बता झारा बता रागनी बजती है ये वाला कौन ए, ए तो ए तो ठीक है इंच इंच बड़ी किस पे मिला ए ए ई में मिली थी ए ई मिली थी आ तुम ए तो एक मिनट एक मिनट हां ए ए ई न ई ई न मैं भी पहले सतार भी बजाता था आप, आप हमको एक निर्गुणी भजन सुना दीजिए हाँ सुनाऊंगा मैं